स्मरण ओम का उच्चारण ओ धन प्रेमी सज्जनों आर्यों को परमात्मा के प्रति क्या भाव रखना चाहिए परमात्मा का कैसा स्वरूप अपने मन में रखना चाहिए उससे संबंधित कुछ बातें इस मंत्र में आज हमारे सामने उपस्थित हैं मंत्र कहता है यो विश्वस्य जगत प्राणतस्पति जो इस विश्व का समस्त जगत का जड़ जगत का और प्राणतः प्राणियों का जो जीवन चला रहे हैं प्राण से युक्त है उनका सबका पति ही पालक है पोषक है उसकी रक्षा कर रहा है इस बात को हम प्राय अनुभव करते हैं देखते रहते हैं फिर भी परमात्मा किस प्रकार से इस सृष्टि की रक्षा कर रहा है जड़ जगत की और कैसे चेतन जगत की रक्षा कर रहा है इसके विविध स्वरूप इससे संबंधित ज्ञान पुनः पुनः हमें नया नया भी मिलता रहता है और उस पर पुनः पुनः विचार करते रहना आर्य की एक अनिवार्यता है क्योंकि ईश्वर का मुख्य नाम ओम जो रक्षा करना है वो रक्षक है और उसकी रक्षाओं से ही हम सर्वाधिक प्रभावित होते हैं इसलिए उसकी जो जो रक्षाएं हैं विभिन्न रूपों में विभिन्न अंशों में वो सब आर्य के मन में रहनी चाहिए तो यो विश्वस्य जगत प्राणतः पति फिर परमात्मा के लिए कहा प्रथमा जो इस जगत से पहले विद्यमान था जो इन सब की रक्षा कर रहा है वो ऐसा नहीं है जो इन सब के उत्पन्न होने के बाद में उत्पन्न हुआ हो इस संसार की रक्षा करते हुए बहुत से मनुष्य हमें दिखाई देंगे प्राणी जगत की रक्षा करते हुए बहुत से मनुष्य राजा अधिकारी आदि दिखाई देंगे सज्जन व्यक्ति दिखाई देंगे और इस प्रकृति की जड़ जगत की रक्षा करते हुए भी बहुत से वैज्ञानिक और ये सब दिखाई देंगे तो जो इस समस्त जगत की और प्राणियों की रक्षा कर रहा है एक तो समस्त ये विशेषण लगाने से अन्य कोई मनुष्य अन्य कोई व्यवस्था इसका स्थान नहीं ले सकती क्योंकि जो भी रक्षा कर रहे हैं वो एक अंश में कर रहे हैं एक भाग की कर रहे हैं थोड़ी सी कर रहे हैं और दूसरा कोई ऐसा समझे कि सृष्टि के उत्पन्न होने के बाद में कोई पुरुष कोई मनुष्य ऐसा आया जो अब इस सब की रक्षा कर रहा है जिसने सबकी रक्षा की तो उसके भेदक के लिए भी विशेषण है प्रथम ये वो जो इस सब की रक्षा कर रहा है वो है जो इनकी उत्पत्ति से पहले से विद्यमान है जो इस सब की उत्पत्ति के बाद में कभी आया है इस पृथ्वी पर वो ये नहीं है वो भिन्न है तो प्रथमा और प्रथमा का एक और अर्थ महर्षि ने भाष्य में किया सर्वस्य प्रथयिता सबको फैलाने वाला सबका विस्तार करने वाला सबको बढ़ाने वाला इस प्रकृति को भी कार्य जगत के रूप में ला करके परमात्मा ने इसको बढ़ाया है इसका स्वरूप प्रकट किया है इसको प्रकाशित किया है इसको उपयोगी रूप में लाके खड़ा किया है ये उसका बढ़ाना है और जीव जंतुओं को भी जिस तरह से बुद्धि आदि इंद्रियां दी हैं शरीर दिया है इससे वो उन जीवों को भी आत्माओं को भी बढ़ाने वाला है उनका उत्कर्ष करने वाला है और ये जो सारा शरीर जगत प्राणी जगत पेड़ पौधे वनस्पति जो भी बढ़ रहे हैं वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं उन सबको ये पढ़ाने वाला है अन्य भी जो आंतरिक वृद्धियां हो रही हैं ज्ञान के स्तर पर भावना के स्तर पर उस सबको भी वो बढ़ाने वाला उसमें सहायता देने वाला है तो प्रथम वो सर्वस्य प्रथयिता सबका बढ़ाने वाला है और ये परमात्मा ब्रह्मणे गा अविंदत ब्रह्म के लिए ज्ञानवान के लिए गा इस पृथ्वी को इस कार्य जगत को अविंदत प्राप्त प्राप्त कराता है उसने प्राप्त कराया है ये सृष्टि किनके लिए अधिक प्राप्त है परमात्मा ने किन के लिए अधिक प्राप्त कराई है तो वो ज्ञानवानों के लिए है जो व्यक्ति इस सृष्टि का जितना ज्ञान रखता है जितना उचित ज्ञान रखता है ठीक ठीक ज्ञान रखता है ये उसको उसके लिए उतनी अधिक उपयोगी होती है वस्त्र भोजन मकान पानी इत्यादि जिन भी वस्तुओं का हम सेवन करते हैं जो व्यक्ति उन वस्तुओं के गुण धर्मों को जितना अधिक जानता है वो उनसे उतना अधिक लाभ उठा पाता है वो चीजें उसके लिए उतनी अधिक उपयोगी होती हैं यही बात अपने शरीर के लिए है जो इस शरीर को जितना अधिक जानता है वो उस शरीर से उतना अधिक लाभ प्राप्त कर लेता है वो शरीर उसके लिए उतना अधिक उपयोगी होता है यही बात विभिन्न धातुओं विद्युत इत्यादि चीजों के लिए लागू होती है जिसके आधार पर वैज्ञानिक भिन्न भिन्न वस्तुएं निर्मित करते चले जाते हैं और वैज्ञानिकों ने भी जो वस्तुएं बनाई हैं उनको भी जो जितना जानता है वो उसके लिए उतनी अधिक उपयोगी होती जाती है हो सकती है इस उपयोगिता को हम एक दृष्टि से स्थूल दृष्टि से देखते हैं कि वो उसके लिए सुविधा को उत्पन्न करती है वो उसके लिए सुख को उत्पन्न करती है वो उसकी दुख निवृत्ति में कारण बनती है ये एक उपयोग हम समझते हैं और प्राय करके संसार इसी रूप में इनका उपयोग समझता है जो इनको जितना जानता है वो इनका उतना अधिक उपयोग ले सकता लेकिन उपयोग का ये एक क्षेत्र है इससे अगला क्षेत्र जो आएगा जो ज्ञानवान के पास में होगा ज्ञान का दूसरा क्षेत्र कि इन वस्तुओं का उपयोग किस लिए करना है इन वस्तुओं का उपयोग किस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए करना है इन वस्तुओं का उपयोग केवल इंद्रिय सुख सुविधाओं के लिए करना है अथवा इनका उपयोग इसलिए करना है ताकि हम कुछ और अच्छा साधना ईश्वर प्राप्ति कर सके ज्ञान के स्तर पर यह भी बहुत बड़ा भेद है स्थूल स्तर पर वैज्ञानिक और अन्य जानने वाले बहुत कुछ जानते हैं लेकिन इसके साथ में दूसरी बात और जुड़ेगी जो कि ईश्वर की दृष्टि से जब ये वचन आएगा तो उसे भी हमें संग्रहित करना ही होगा तो परमात्मा ने इस गाह को इस भूमि को इस समस्त जगत को ज्ञानवान के लिए बनाया है ज्ञानवान इसका उपयोग लेकर के लाभ उठाएगा और जो अज्ञानी है वो इसका उपयोग लेकर के उपयोग करके हानि उठाएगा जो व्यक्ति चक्कू से चाकू से हाथ कटवा बैठता है वो भी कुछ तो जानता ही है उस चाकू के बारे में तभी उसने पकड़ा था तभी वो चला रहा था लेकिन पूरा नहीं जानता वो ऐसा उपयोग कर रहा है सब्जी आदि उसने भी काटी थी लेकिन अपनी उंगली भी कटवा ली उसने हानि भी कर ली इस संसार का प्रकृति का वो उपयोग जो केवल इंद्रिय सुख तक निर्भर है इंद्रिय सुख तक केंद्रित है सुख सुविधाओं तक केंद्रित है इतना जो ज्ञान है ये भी इन वस्तुओं का उपयोग होता हुआ दिखाई देते हुए भी वास्तव में वो उसके लिए ना हो करके उसकी उसके लाभ के लिए ना हो करके उसकी हानि के लिए हो जाता है क्योंकि वो वहीं तक लिप्त रहता है वहीं तक उसका उसकी सार्थकता समझता है और अपने ऊपर जो भी बुरे संस्कार डालने हैं वो डालता चला जाता है और ऐसा करते हुए वो अपनी आत्मा की हानि कर लेता है जिस प्रयोजन के लिए वो इनका उपयोग कर रहा था अंततः सुख की प्राप्ति वो उसको नहीं हो पाता तो इस दृष्टि से जो केवल स्थूल ज्ञान रखता है वो इन वस्तुओं का उपयोग करता हुआ दिखता हुआ भी वो उनसे हानि उठा रहा होता है गलत संस्कार डालते हुए उनका दुरुपयोग करते हुए अपनी हानि ही कर रहा होता है तो ये संसार उसके लिए लाभदायक प्राप्त कराया है परमात्मा ने जो ब्रह्म हो जो ज्ञानी हो और वो ज्ञानी कैसा जो शुद्ध ज्ञानी हो जो जीवन के लक्ष्य को समझता हो उनके लिए ये चीजें सब लाभदायक हैं नहीं तो ये संसार दुखदायी और हानिकारक ही बना रहेगा आगे कहा इंद्रो यो दस्युन अधराम अधरान अवातिरत वो इंद्र जिसने जो दस्युओं को दुष्टों को जो दूसरों का क्षय करते हैं दूसरों की वस्तुओं को ले लेते हैं दूसरों की हानि करते हैं ऐसे व्यक्तियों को नीचे उसने गिरा दिया है डाल दिया है उनकी हानि की है परमात्मा उन व्यक्तियों की हानि करता है जो दूसरों की हानि करते हैं जिस प्रकार के से जो दूसरों का लाभ करता है हित करता है परमात्मा उसका हित करता है उसको बढ़ाता है उसकी रक्षा करता है और जो दूसरों की हानि करता है उसको परमात्मा नीचे गिराता है महर्षि ने जो इसका अर्थ लिखा कि परमेश्वरीयवान परमात्मा डाकुओं को अधरान नीचे गिराता है तथा उनको मार ही डालता है इसको यदि हम व्यापक रूप से देखें परमात्मा कैसे इनको गिराता है कैसे इनको गिराता होगा एक तरफ परमात्मा ने कर्म की स्वतंत्रता दे रखी है वो कर्म कर रहा है बुरे कर्म कर रहा है दूसरी तरफ हम ये मानते हैं कि परमात्मा हाथ पकड़ करके किसी को रोकता नहीं है और जैसे राजा न्यायाधीश आदि दंड देते हैं कोड़े लगाते हैं या हाथ भी काटना हो तो हाथ काट देते हैं जीप काट देते हैं कैद में बंद कर देते हैं उस तरह से ईश्वर भी करता हुआ नहीं दिखता ईश्वर स्वयं इस तरह के दंड इस मनुष्य को या अन्य प्राणियों को नहीं देता लेकिन फिर भी लिखा है परमात्मा इनको मार डालता है इनको नीचे गिरा देता है तो इनसे अतिरिक्त कोई स्थल हमें देखने होंगे जहां परमात्मा जिस तरह परमात्मा दुष्टों को खीन करता है बांध देता है यदि हम केवल इस जन्म को ना देखें अन्य जन्मों को भी अन्य प्राणियों को भी देखें तब तो एकदम स्पष्ट हमें पता लगता है कि परमात्मा ऐसी आत्माओं को जो दूसरों की हानि करती है उनको नीचे गिरा देता है निम्न स्तर के शरीरों में रख देता है वो उनका कारावास है वो उनका बंधन है वो उनका क्षय है उनको अब उन्नति का कोई अवसर नहीं है और जो मनुष्य इस तरह का करते हैं उन सबको छांटता जाता है छाटता जाता है उनको अगला जन्म मनुष्य का नहीं देता हर बार छटनी करता जाता है छटनी करता जाता है फिर जब कर्म बराबर होते हैं पाप पुण्य तब जाके उनको फिर मनुष्य जन्म का अवसर देता है नहीं तो हर बार छटनी करता जाता है इस रूप में वो दुष्टों को दूसरों को क्षय करने वालों को हानि पहुंचाने वालों को नीचे गिराता है और उनको मार डालता है लेकिन इस जन्म में रहते हुए भी वो किस तरह से दुष्टों को मारता है किस तरह की उसकी व्यवस्थाएं हैं तो जो भी व्यक्ति दूसरों की हानि करने लगता है तो जिसकी हानि होती है उधर से प्रतिक्रिया होती ही है उसको रोकने का प्रयास करता है और जो अनेकों की हानि कर रहा है तो अनेक उसके शत्रु बनते हैं अनेक उसको उसके असहयोगी बनते हैं यदि किसी बल के कारण से डर के कारण से वो कुछ चुप भी रहते हैं या कुछ सहयोग भी करते हैं लेकिन जहां मौका मिलेगा वो उस, उसका सहयोग नहीं करेंगे उसकी हानि करेंगे जैसे ही अवसर आएगा और इसलिए दुष्टों की किसी न किसी ढंग से ईयों की हानि होती रहती है ईश्वर की एक सामान्य व्यवस्था दिखाई देती है आत्मा का भी ऐसा स्वभाव है वो हानि होने पर उसकी प्रतिक्रिया करेगा इसको मनुष्य के क्षेत्र का हम मान भी लें व्यवस्थाएं ईश्वर की बनी है लेकिन फिर भी जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है इसलिए इसको पृथक भी कर दें तो भी जो व्यक्ति दूसरों की हानि करता है और जब उससे प्रतिक्रियाएं अधिक आती हैं तो उसको उतना ही विचलन भी होता है इससे रक्षा करनी है इससे रक्षा करनी है उसकी मानसिक स्थिति उसको बहुत अधिक योजना बनानी पड़ती है बहुत अधिक सुरक्षा अपनी करनी पड़ती है बहुत अधिक डर भय आशंका से वो युक्त रहता है ये आना ही है उसके मन में और उससे उसका असंतुलन होना ही है कहीं ना कहीं वो गड़बड़ करेगा उसकी भूख है उसकी निद्रा है अन्य सब चीजें और भी जो चीजें हैं जो जीवन को अच्छा चलाने के लिए बढ़ाने के लिए आवश्यक हैं उसमें अस्त व्यस्तता भिन्नता आएगी उस व्यक्ति के और वो कुछ ना कुछ गलत करेगा उसको विभिन्न प्रकार के रोग होंगे क्योंकि वो शरीर के अनुकूल नहीं चल रहा है बुद्धि उसकी वैसी नहीं है कि वो स्वस्थ रह सके जो ईर्ष्या द्वेष से युक्त है असत्य का प्रयोग करता है अन्याय पूर्वक दूसरों की हानि करता है दोष न होने पर भी दूसरों पर दोष लगाता है इत्यादि जो दोष हैं दूसरों को क्षय करने वाले हैं ऐसे व्यक्ति की बुद्धि और बुद्धि के खराब होने से बाकी सारा तंत्र भी खराब होगा उसका ईश्वर ने व्यवस्था कर ही रखी है ऐसा होगा ही इस प्रकार परमात्मा उनका क्षय करता है उनको मृत्यु की तरफ ले जाता है और राज्य आदि व्यवस्था भी ईश्वर के आदेशानुसार की गई है वो भी उसको बांधने में परोक्ष रूप से सहायक होती है तो परमात्मा इन दुष्टों का क्षय करता है और आर्यों को ऐसे ही ईश्वर को स्वीकार करना होता है केवल वो हमें देने वाला है इतना मात्र अच्छों को बढ़ाने वाला है इतना मात्र परमात्मा के लिए पर्याप्त नहीं है जिसे हम सर्वोच्च मानते हैं वो इतना मात्र हो वो उतना हमारे लिए पूज्य नहीं हो सकता वो हमारी बाधाओं को भी दूर करने वाला हो वो दुष्टों को हटाने वाला भी होना चाहिए जैसे कि हम राजा से भी अपेक्षा रखते हैं अधिकारी से भी हम ये अपेक्षा रखते हैं परमात्मा से ये अपेक्षा रहती है और परमात्मा ऐसा है वेद मंत्र में बताया ऐसे उस मरुत्वंतम उस बलवान परमात्मा को हम सख्याय हवा महे मित्रता भाव के लिए बार बार पुकारें हम ऐसे ही परमात्मा की मित्रता चाहते हैं परमात्मा को हम इसी रूप में देखें और इस रूप में जब देखेंगे तो सख्य भाव स्वतः ही आएगा जो इतना हितकर है उसके प्रति सख्य भाव क्यों नहीं आएगा जैसे जैसे हम ईश्वर की स्तुति करेंगे वैसे वैसे ईश्वर के प्रति ये सख्य भाव हमारा बढ़ेगा और जितना बढ़ा है उसको हमें और बढ़ाना है परमात्मा से इस प्रकार की प्रार्थना करनी है और परमात्मा को इसी रूप में देखना है ताकि वो ही हमारे लिए अंतिम और सर्वोच्च पुकारा जाने वाला हो आह्वान किए जाने किया जाने वाला हो ये इस मंत्र के अंदर आर्यों के लिए भावना स्तुति निर्देश दिया गया है किन्हीं को कुछ पूछना हो तो रविशंकर जी कुछ है एक तो ऊंचा बोला करिए मेरे को ही नहीं सुनाना है औरों को भी सुनाना है इस दृष्टि से कम से कम अधिक दूर जाए परमात्मा के प्रति तो सर्वोच्चता सर्वोच्च भाव सर्वात्मना हमें अपेक्षित होता है वो हम करते हैं उसके प्रति वो हमें करना चाहिए वहां तो सर्वोच्च ही होगा यही उसका मापन है जितना हम कर सकते हैं जो व्यक्ति जितनी भावना बना सकता है उतनी अधिक बनाए सामर्थ्य के अनुरूप ये वहां पर होगा और व्यवहार के लिए तो बहुत सारी चीजें देखने योग्य होती हैं यथा योग्य हम किसको कहें तुलनात्मक रूप से सापेक्ष रूप से होता है ये सब चीजें तो व्यवहार से तो उदाहरण से होगी अब कोई हमारा मित्र है और मित्रता के लिए हम हित करने में हम अपना सारा धन उसके लिए देने लगे हम मित्र भाव के लिए हैं भाव में हैं और उसकी कोई ऐसी स्थिति आ गई हमने सारा का सारा धन अपने दे दिया अब ये अयथा योग्य होगा एक सीमा तक रखना होता है अपना भी ध्यान रखते हुए और अपने परिवारजनों का भी ध्यान में रखते हुए वो भी हमारे मित्र हैं हमारी मित्रता किसी एक के प्रति इतनी ना हो जाए उसके प्रति सहयोग या व्यवहार इतना ना हो जाए कि अन्यों के प्रति उसका दुष्प्रभाव आ जाए ये हमें अवश्य ध्यान रखना होता है यदि सामर्थ्य अधिक है तो हम किसी मित्र को अधिक सहयोग भी कर सकते हैं उससे अन्य प्रभावित नहीं होते हो तो वहां सीमा बढ़ सकती है एक स्थिति में लेकिन यदि हमारे पास बहुत कम है तो वहां हम ये सब नहीं कर सकते जितना हमारे पास में है उसको भी ध्यान में रखते हुए और वो पात्र है तो जितना हम दे सकते हैं वहां तक हमें देना चाहिए उससे अधिक देते हुए बहुत जने देखे भी जाते हैं मित्र भाव में आकर के अपना समझ करके बहुत ज्यादा कर देते हैं वो उसके लिए आवश्यक होते हुए भी हमारे लिए वो गलत होता है वो यथा योग्य में नहीं आएगा अन्यों का भी ध्यान रखते हुए सबके साथ जो हमारा व्यवहार है वो सब ध्यान में रखते हुए हमें उसको करना चाहिए इसके लिए कोई लिखा हुआ आपको कहीं सीधे सीधे ऐसा नहीं मिलेगा कि ये योग्यता है और ये इतना देना चाहिए ये परिस्थिति आदि के अनुसार आप कोई उदाहरण देंगे तो फिर बताया जा सकता है कि भाई यहां ये इतना करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो मैं अपने जान के अनुसार बता सकता हूं अन्य व्यक्ति भी अपने जान के अनुसार बता सकते हैं कि हाँ ये करना चाहिए ये इतना उचित है या नहीं है इस स्थिति में मित्रवत व्यवहार कहा कितना करना चाहिए ये देखने की बात होगी वो उदाहरण विशेष के लिए आपको कोई ऐसी स्थिति दिखती है इसके साथ में मुझे क्या क्या करना चाहिए आप व्यक्ति बताएंगे स्थिति बताएंगे तो भी आपको ये ये करना चाहिए ये बताया जा सकता है लेकिन यूं सामान्य रूप से कोई पैमाना बताना वो संभव नहीं है मित्र के लिए भोजन के विषय में क्या करें समय देने के लिए क्या करें इत्यादि वो बातें सारी इन सब में जो मैंने एक संकेत किया अपने अन्य मित्रों का अपनी आत्मा का अपने कर्तव्यों का उन सब का ध्यान में रखते हुए ये व्यवहार किया जाता है मित्रता का व्यवहार छोटा बालक होता है तो किस उम्र से उसको दोष हैं जी तो स्वामी जी का पूछना है कि दूसरों को हानि पहुंचाने बच्चा भी पहुंचा देता है तो ये जो पाप लगना है वो किस आयु में शुरू होना चाहिए कब से हम इसको माने तो उसमें महर्षि दयानंद के कुछ संकेत हैं क्योंकि कि पूना प्रवचन में उन्होंने इस बात को लिखा है जब से वो समझदार हो जाता है आ, समझदार की भी सीमा हम कब माने तो एक चार पांच छह वर्ष का बच्चा आठ वर्ष का बच्चा इतना जानने लग जाता है दूसरे अपने साथी को हानि पहुंचाना नहीं पहुंचाना इत्यादि तो उससे पहले का जो व्यवहार है वो हमारे को स्मरण भी नहीं रहता है तीन वर्ष चार वर्ष का हम अपनी बाल्यावस्था को देखें उतनी छोटी अवस्था का हमारे को बिल्कुल ध्यान सा भी नहीं रहता है बड़े होने पे कुछ वो जो काल है उस समय जो चीजें होती हैं वो पाप की कोटि में न ली जाए वो इंद्रिय बोध से चल रहा है अभी सीखा भी नहीं है अब वो सीमा कुछ बच्चों में चार साल किसमें में आठ साल हो सकती है कम ज्यादा लेकिन फिर भी आप उपनयन तक ले सकते हैं अधिकतम कि जब तक उसका उपनयन होता है वेदारंभ होता है उससे पहले पहले का भाग और फिर भी पांच छह वर्ष ऐसा कुछ उसमें लिखा हुआ है उसके बाद से कुछ कुछ दोष लगने लगेगा ये तो स्पष्ट है ही कि जो जितना ज्ञानवान होता है उसको उतना अधिक दंड मिलता है वैदिक व्यवस्था में तो बच्चा जो 10, 12, 15, 20 साल का है एक 20 साल का है एक 50 वर्ष का है उसमें भी तो अंतर पड़ेगा एक ही अपराध करने पर उनके दंड की न्यूनाधिकता हमें स्वीकार करनी होती है वैदिक धर्म के अनुसार समान नहीं माना जाता है उसको जो दंड व्यवस्था मनुस्मृति में दी है उसे भी वेदोक्त वेदानुरूप मानते हुए हम ये संकेत ठीक तरह ले सकते हैं पर लगना कब से प्रारंभ हो जाता है तो चार पांच छह वर्ष का एक संभावना के रूप में ये उचित तर्क संगत भी प्रतीत होता है उसके बाद में उसको सत्संग में जाना चाहिए ये सब बोध तो नहीं होगा जैसे कि तो हाँ। हाँ। तो हाँ। उतना बोध नहीं होता है उसको वो उसी परंपरा में उसी स्थिति में है लेकिन प्रयास करना चाहिए वो तो है उतने अंश में उसको कम दोष लगेगा लेकिन इसका एक अर्थ ये ना ले लेना कि किसी को दोष का पता ही ना हो अपराध का पता ही ना हो और वो कर दे तो कहेगा जी मेरा क्या दोष मेरे को तो पता ही नहीं था उस अंश को यहां नहीं ले लेना इन सब जगह वही सामर्थ्य और यथा योग्य हमें देखना होगा कि जितना वो इस स्थिति में जान सकता था जानने योग्य था यदि उतना उसने जान लिया है और फिर अज्ञानता में कुछ हो रहा है उस अंश को छोड़ दीजिए लेकिन जिसने प्रयास नहीं किया उतनी अवस्था में जितना जानना चाहिए वो नहीं जाना और फिर अज्ञानता से जो दोष कर रहा है तो उसका दोष बनेगा क्योंकि उसने जाना नहीं है उसको जानना चाहिए था लेकिन उसने नहीं जाना उतना दोष मानना होगा और फिर ये अपने अपने कर्म के अनुसार भी है कि वो ऐसी जगह पे उसने जन्म लिया है मांसाहार की आप छोड़ दीजिए बाकी अन्य मिथ्या अज्ञान भी तो बहुत रहता है ऐसे ऐसे परिवार वहां वही वही उसके सामने है तो उसके कर्म इस प्रकार के कि वो उन जटिल स्थितियों से निकलना उसके लिए कठिन है और सत्य तक पहुंचना उसके लिए उतना कठिन है क्योंकि उसने पहले ऐसे संस्कार बनाए हैं ऐसे कर्म किए हैं उसके लिए सत्य तक पहुंचना उतना कठिन है और वो गलत काम करता रहेगा वहां और दंड का भागी बनता रहेगा अपनी हानि भी करता रहेगा एक प्रकार के कहेंगे पिछले कर्म के कारण उसको नया पाप करने का नया उसको अच्छी स्थितियां नहीं मिली श्रेष्ठ स्थितियां नहीं मिली उसके कारण उसके और पाप होंगे बिल्कुल होंगे वो जैसे बुरे संस्कार से फिर और नए बुरे संस्कार बनते हैं हमने पाप किया है तो हमारे को ऐसी स्थिति मिल गई जहां हम हमारे से और पाप होते जा रहे हैं तो तो हानि होगी और अच्छा कर्म किया है तो अच्छी स्थिति भी नहीं उससे हम और अच्छे करेंगे और प्रगति का अवसर मिलेगा हमारे को यही तो है जो दुष्ट व्यक्ति हैं उनको क्षीण करने वाला है परमात्मा वो ऐसी स्थितियां उनकी मिलती है कि वो और क्षीण होंगे प्रयत्न प्रयत्न जब करने लगेंगे तो फिर उनके लिए भी वही स्थिति ऊंचे के लिए उपलब्ध है से इतना ही रखते हैं मन में परमात्मा की रक्षा का भाव बनाएंगे और वो दुष्टों का नाशक है मैं भी यदि दुष्ट कर्म करता हूं तो मेरा भी वो नाशक होगा मेरा भी क्षय करेगा का उच्चारण